और जब मुशरक अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ए हमारे रब यही हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारा करते थे चुनाचे वो शरीक ये बात उन पर ही डाल देंगे कि बिलाशुबा तुम झूठे हो